मुनाफिकीन में कुछ दूसरे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे भी महफूज रहें और अपनी कौम से भी मगर जब कभी उनको फितने की तरफ वापस बुलाया जाए वो उसमें औंधे मुंह जा गिरते हैं चुनाचे अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार न करें और न तुम्हें अमन की पेशकश करें और न अपने हाथ रोकें तो उनको भी पकड़ो और जहां कहीं उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے